कि इस समय मैं इंद्र हूं इसलिए तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो मेरे बेड पर आया करो सीधा आदेश हुआ वो तो पति प्राणा पतिव्रता स्त्री थी वो सुनते ही बेचारी बहुत दुखित हो गई रोने लगी अब किसका सहारा ले वो भी नहुस महाराज की आज्ञा थी उसको टालना भी बहुत मुश्किल का काम था तो बेचारी उस विपत्ति में अपने गुरु की शरण ली बृहस्पति जी की उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है गुरु महाराज गुरु तो पिता के समान होते हैं अब वही सहारा देते हैं तो ये दशा है उस महाराज ने हमसे ये कहा है ऐसा कहा है हम क्या करें तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि बेटी चिंता मत करो तुम स्वीकार कर लो कि ठीक है मैं आपको स्वीकार करती हूं लेकिन एक शर्त करती हूं कि आप इतने बड़े हैं इंद्र हैं बड़े पद पर हैं तो ये सप्तर्षि लोग जो हैं ये तो आपके सेवक हुए ये ब्राह्मण है तो क्या आपके सेवक हुए तो यदि आप सप्तर्षियों को अपने पालकी में लगा करके और उस पालकी पर चढ़ करके मेरे पास आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करती हूं जब सच्ची ने इस तरह से मानो एक बनावटी लव लेटर लिखा कि ठीक है नहुस महाराज मैं आपको स्वीकार करती हूं लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप बहुत बड़े हैं अतः इन ब्राह्मणों को पालकी में है जिसमें दुर्वासा जी भी थे अगस्त मुनि थे सप्तर्षि उस समय ये लोग पालकी लेकर आएंगे आपको तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी ये खबर है वो तो धन और मद से अंधे हो रहे थे उन्होंने सोचा सप्तर्षि या कोई ब्राह्मण मेरे सामने क्या है बस इतनी बेचारी की शर्त है तो मैं मान लेता हूं उन्होंने तुरंत सप्तर्षियों को बुलाया सात ऋषि जो इंद्र को सहायता देते हैं वेद शास्त्र पढ़कर उन्होंने साफ कहा कि आप लोग तो कोई काम धंधा करते नहीं हैं बैठे रहते हैं तो हमें सची के घर जाना है और आप लोग पालकी में कहार बनकर लगो वे ब्राह्मण कभी एक किलो का भी बैग नहीं उठाए थे केवल किताब वेद शास्त्र पढ़ते थे और ये आदेश हो गया और यह राजपूत तो ये स्वर्ग में खा पी करके और मोटा तगड़ा हो गया तो स्वस्थ भारी देह था तो आज्ञा हुई नहुस को चढ़ने में संदेह थोड़ी भी हिचक नहीं हुई पालकी पर इसके बाद अगस्त जी लगे और सब लगे अगस्त जी आगे लगे हुए थे और आगे में भी अब तो सात ऋषि थे तो पता नहीं कौन चार उधर लगे थे तीन किधर लगे थे लेकिन अगस्त जी बिल्कुल सामने पड़ते थे पालकी ऐसे खुली थी बहुत सुंदर सोने की उसे मढ़ी हुई इसलिए वो भी वो भी भारी थी सोना भारी होता है फिर तो बैठे थे काम से इतना उन्मत्त हो रहे थे नहुश वो कह कह दिए कि सर्प सर्प सर्प का अर्थ होता है सर को जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो इसको सर्प कहते हैं सर्प जो होता है वो छलक कर चलता है तेज इसीलिए उसको सर्प कहते हैं तो नहुस काम वासना से बिल्कुल उन्मत्त हो रहे थे उन्होंने कहा सर्प सर्प तो ये ऋषि लोग इतने अभ्यस्त नहीं थे कि कहार जैसे सावस सावस कहते हुए पालकी ढोवे वो तो बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे तो नहुस को इतना अभिमान हो गया इतना भी जल त्वरा में थे कि अगस्त जी पर उन्होंने लात मारा लात से मारा और कहा कि तुम क्यों देरी करते हो सर्प सर्प जब पैर से मारे और सर्प कहे तो वे सप्तर्षि पाल की रख करके और अगस्त जी ने साफ दिया तुम सर्प सर्प कह रहे हो तुरंत सर्प हो जाओ और ये अब तो इतना सुनना था कि नहुस महाराज का होश उड़ गया अब उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं कितनी गलती कर रहा था ओहो मैं क्या सोच रहा था लेकिन उन्होंने अगस्त जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा कहा कि हे ऋषि ठीक है मेरी गलती के कारण आपने हमको साथ दिया परंतु आपके चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके बताइए कि मेरा यह सर्प जोनी से कब उद्धार होगा आपका साप कब नष्ट होगा तो अगस्त जी को दया आ गई उन्होंने वरदान दिया कि देखो तुम तो सर्प बनोगे बहुत बड़ा अजगर बनोगे और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था के विषय में कह रहा हूं दिन के छठे भाग में कोई भी जानवर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा वो तुमसे छूट नहीं पाएगा चाहे वो बड़ा हाथी हो चाहे मनुष्य हो बाघ हो सिंह हो तो भोजन की व्यवस्था तो इन्होंने कर दिया और कहा कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जिस दिन तुम्हारी बात होगी तुम वार्ता करोगे श्रेष्ठ व्यक्ति से उसी दिन तुम सर्प जोने से मुक्त हो जाओगे और मेरी कृपा से तुम्हें यह स्मृति रहेगी कि तुम क्यों सर्प बने हो और तुम नहुस थे ये याद रहेगी तो नहुस महाराज सर्प बन गए वन में जो पांडव वन में गए हुए थे जब द्वैत वन में रह रहे थे उसी वन में ये नहुस अजगर बन करके पड़े हुए थे और इनको बात यह पूरी तरह से मालूम थी कि हमारे ही वंश के लोग इसे वन में आए हुए हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं युधिष्ठिर से बात करूं क्योंकि अब युधिष्ठिर से श्रेष्ठ पुरुष कौन होगा तो उसके साथ बात करके मैं सर्वजनि से मुक्त हो जाऊंगा ये बात उनको याद थी तो दैव योग से एक दिन भीमसेन उस वन में अकेले वृक्षों को तोड़ते हुए रास्ता बनाते हुए पत्थर फोड़ते हुए पहुंच गए तब तक उस सर्प ने उनको अपनी पकड़ में ले लिया तो ऋषि का वरदान था कोई मुक्त नहीं हो सकता था उसकी पकड़ से तो भीमसेन तो समझे कि अरे ये सांप फांक क्या है हमारे लिए तो उसको हाथ से पकड़ करके वो छुड़ाना चाहे लेकिन वो तो ऐसा जकड़ लिया कि अब कोई भी चार काम नहीं कर रहा था उनका हार गए बिल्कुल चूर थक गए और सर पकड़ करके और ऐसे मुख फाड़ करके बार बार देख रहा था कि अब तो वो निगलेगा पस्त हो गए भीम से एकदम मरे हुए जैसे शाम हो गई महाराज युधिष्ठिर अपने गुरु में जिसे बातचीत करने लगे सब भाई आ गए भीमसेन कहाँ हैं तो ये दोनों खोजने निकले धौम में जी और युधिष्ठिर महाराज की भीमसेन कहाँ है तो मरे हुए बाघ हाथी और बड़े बड़े झाड़ियों को उखाड़ा हुआ देखते हुए वे गए तो देखे तो भीमसेन तो मर चुके हैं मतलब ये लोग समझे कि मर गए क्योंकि कोई चेष्टा नहीं हो रही थी न सांप न हाथ हिल रहा था न पैर तो निकट जब पर जब युधिष्ठिर महाराज गए तो देखे कि पलकें गिर रही हैं तो समझ गए कि अभी तो जीवित है लेकिन सर्प की विचित्र आकृति को देखकर युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि यह अधोगति में पड़ा हुआ कोई देवता चाहे ब्राह्मण है कोई साधु वैष्णव ऐसा कोई सांप हो नहीं सकता है और वो भी भीमसेन को अपनी पकड़ में कर ले ऐसा कौन सांप हो सकता है हमारा युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके कहे कि हे सर्पराज निश्चित ही आप कोई महान व्यक्ति हैं किसी कारण से आप इस अपगति में हो गए हैं मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं ये जो हमारे भाई हैं हमारे दूसरे भाई हैं हम लोग माता कुंती के तीन पुत्र हैं हमारे पिताजी नहीं रहे हम लोग अनाथ हो गए माँ ने हमारा पालन किया तो इस भाई पर मुझे बहुत भरोसा है इसको छोड़ दीजिए और यदि आप भोजन चाहते हैं तो मैं इसके बदले आपको कोई सींग या बाघ आपको अर्पित कर सकता हूं इसके बदले में लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए सर्प तो बहुत खुश हुआ मन में युधिष्ठिर के साथ बात करने का अवसर मिला इसी कारण वो भीम को पकड़े भी थे जानते थे कि भीम हमारे ही खानदान का है और पकड़ने पर युधिष्ठिर आएंगे उनके साथ बात करूंगा तो सर्प ने कहा कि नहीं ईश्वर के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ है अपने आप तो तुम्हारी कृपा का भोजन मैं क्यों करूं तुम पकड़ करके जीव दोगे वो मैं खाऊंगा ऐसा नहीं ये मेरी कमाई है ईश्वर ने इसको भेजा और मैं पकड़ा हूं इसलिए मैं खाऊंगा केवल ऊपर से कह रहे थे खाने की इच्छा नहीं थी उनकी बारंबार गिड़गिड़ा रहे थे युधिष्ठिर महाराज बल्कि आप हमको खा जाइए लेकिन इसको छोड़ दीजिए मेरी माँ अनाथ है विधवा है उसका कौन पालन करेगा ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझको खा जाइए तो सर्प कहता है तुम तो दुबले पतले तुम्हें इतना मांस है ही नहीं मेरा पेट नहीं भरेगा मैं इसी को खाऊंगा लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो कि कोई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है कि कर्म से अगर ठीक ठीक उत्तर दे दोगे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं तब तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ सकता हूं छोड़ने का विचार करूंगा युधिष्ठिर महाराज तो रो रहे थे ठीक है प्रश्न कीजिए तो उन्होंने प्रश्न किया ना उसने कि ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जन्म तो सबका एक समान होता है वास्तव में ब्राह्मण कर्म से ही होता है ब्राह्मण के विषय में प्रश्न किया गया था अच्छा इस पर बहुत से विचार किया गया है कैसे कैसे युधिष्ठ महाराज का लंबा प्रवचन है बीच बीच में नहुस प्रश्न कर रहे हैं इसके बाद नहुस ने कहा सर्प ने कहा कि तुम्हारा कोई प्रश्न है वो तो किसी तरह बात करना चाहते थे तुम्हारा कोई प्रश्न है तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा हाँ मैं प्रश्न मेरा प्रश्न है उन्होंने पूछा कि इस संसार में बताइए आपका अनुभव होगा हे हे सर्फराज मनुष्य को ऊंचे पद से या भक्ति से कृष्ण भावना से गिराने वाला कौन कारण है ये कृष्ण भावना शब्द का प्रयोग नहीं वहां हुआ है लेकिन भक्ति का ही प्रयोग है ज्ञान से चेतना से कृष्ण भक्ति से डाउन करने वाला गिरा देने वाला कौन सा कारण है संसार में नहुस महाराज कहते हैं सबसे बड़ा कारण है धन और पद धन और पद से व्यक्ति भक्ति से बिल्कुल नीचे गिर जाता है ये देखा गया है संसार में उसमें अनेक दोष आ जाते हैं छल कपट नाना प्रकार के तो फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ऐसा उदाहरण ऐसा उदाहरण कोई तो नहुस कहते हैं बेटा मैं ही उदाहरण हूं तब अब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कौन है तो कह तुमने सुना होगा कि नहुस स्वर के इंद्र बने हुए थे वही मैं नहुस हूं और हमको इस गति में कौन डाला है इंद्र का पद और वहां का धन बेटा जब मैं स्वर्ग गया तो मैं बिल्कुल अंधा हो गया उस धन और पद से तो किसी व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे धन और पद से वो बचे नहीं तो ये दोनों अधोगति में उसको डाल देते हैं अपना उदाहरण दे रहे हैं महाभारत में बहुत विस्तार से बना बताते हैं देखो जब मैं पृथ्वी पर था तो कितनी तपस्या करता था धर्म करता था व्रत करता था जब मैं यहाँ आया तो मैं ये सोचने लगा कि मैं ही जगत का ईश्वर हूँ मैं ही सब कुछ हूँ सारे देवता मेरे अधीन हैं इसीलिए मैंने इंद्र की पत्नी पर भी अपना मन बिगाड़ा और उस स्त्री के प्रति मनोभाव बिगड़ने के कारण मेरी ये दशा हुई और बेटा मैं इसी प्रतीक्षा में था कि तुम कब मेरे पास आओगे तुमसे बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक था अगस्त जी ने कहा था कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करोगे तो सर्प जोनी से मुक्त हो जाओगे तो मैं इसीलिए तुम्हारे भाई को पकड़ा था कि तुम आओगे वो छोड़ दिए भीमसेन को युधिष्ठिर महाराज तो सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये दांत गड़ाया होगा विष का संचार हो गया होगा भीम में मर गया होगा लेकिन नहुस जी कहते हैं कि तुम मैंने तुम्हारे भाई को कहीं भी डंसा नहीं है केवल पकड़ करके रखा था और अगस्त जी के वरदान के कारण मेरे ये चंगुल से छूट नहीं पाया तो ये तुम्हारे भाई रहे और उसी समय विमान आया विमान पर सामने भीमसेन खड़े थे जो युधिष्ठिर महाराज भाव में और विमान पर देवता लोग ले गए नहुस को फिर स्वर्ग ले गए तो वो बहुत बड़ा अनुभव बताए कृष्ण भावना में अचल रहने के लिए व्यक्ति को भोगों से बचना चाहिए नहीं तो तत्काल पतन हो जाता है एक क्षण में आदमी गिर जाता है चित्त भगवान से स्खलित हो जाता है तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तावत त्रिणाकम नहुस ससास विद्या तपोजोग बलानुभाव स संपद ऐश्वर्य मदांध बुद्धि नीतश्चित तिरश्चम गतिविंद्र पत्निया एक स्त्री के द्वारा गिरा दिए गए अगर सची को भोगने का वे प्रयास नहीं किए होते तो इंद्र पद से इनको हटाना आसान नहीं था लेकिन एक स्त्री में आसक्त होने के कारण इनकी महानुभावता कुत्सित हो गई गिर गए तो इंद्र भगवान इस तरह रह रहे थे ततो गतो ब्रह्म गिरो बहुत भर ध्यान निवारिता घ पापस्तु दिग्देवतया हतौजास् विष्णु पत्निया इसके बाद ब्रह्मा जी के अथवा ब्राह्मणों के बुलाने से इंद्र देवता अपने घर गए जब तक वे थे मान सरोवर में अपने घर में भी तो रितम भर ध्यान निवारिता गए रितंभर का ध्यान कर रहे थे रितम का अर्थ होता है सत्यम और भरम का अर्थ है भरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ही सत्य के पालक हैं इसलिए उनको रितंभर कहते हैं और उनकी पत्नी को रितंभरा कहते हैं लक्ष्मी जी का नाम है रितंभरा इसमें तो बहुत प्रसिद्ध है रितंभरा माता जी हैं बहुत प्रसिद्ध भारतवर्ष में बहुत काम कर रही हैं जहां तहां गरीबों की सेवा तो रितम भरत ध्यान निवारिता घर सत्य का पालन करने वाले भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे इसीलिए इनका पाप नष्ट हो गया भगवान के ध्यान से और पापस्तु दिग देवतया हतौजा और समस्त दिशाओं के विशेष करके ईशान कोण के इधर के <clears throat> देवता उस तरफ के भगवान शिव हैं तो भगवान शिव ने सोचा कि हमारे घर में हमारे दिशा में आया हुआ है इंद्र तो वे भी पाप का निवारण कर रहे थे उनकी कृपा से भी पाप कमजोर हो गया भगवान शिव कृपा कर रहे थे भगवान विष्णु कृपा किए शिव जी कृपा किए और अवितम विष्णु पत्निया और विष्णु पत्नी श्री लक्ष्मी जी कृपा कर रही थी इंद्र पर चूंकि कमल में रह रहे थे तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान कमल है तो इस कारण से लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे घर में रह रहा है कितना भी अपराधी हो लेकिन इसका पालन पोषण करना चाहिए रक्षा करना चाहिए तो विष्णु पत्नी रक्षा कर रही थी तो इंद्र की तीन लोग रक्षा कर रहे थे भगवान तथा शिव जी और लक्ष्मी जी इस कारण से पाप क्षीर्ण हो गया खत्म हो गया तो फिर बुलाए गए वे तो आए घर जब इंद्र देवता अपने घर आए स्वर्ग में तो उसमें तो नहुस तो जा चुके थे सर्प बन चुके थे तो जब एक घर लौटे तब ब्राह्मण सब जुटने लगे जो लोग इंस्टिगेट किए थे इतना दिन तक पूछने नहीं आए तम च यो मेधे न भारत जथावत दीक्षे चक्रु पुरुषाराधने तो सब ब्रह्मर्षि लोग जुटे उनके पास आए अब आ करके क्या कहे होंगे यही कहे होंगे कि आपका पता नहीं चला कहाँ आप चले गए थे और जब युद्ध भूमि में थे तो क्यों छोड़कर चले गए थे ऐसे वो इस तरह से झूठ बोलने वाले ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कहे हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा उस समय हम लोग आपको कहे कि पाप नहीं लगेगा नहीं लगेगा लेकिन तो अद्भुत बात हुई कि पाप लग गया खैर कोई बात नहीं अब अश्वमेध जग की दीक्षा को हम दे रहे हैं तो अश्वमेध जग करने के लिए उनको दीक्षित किए तो सारे नियम बताए ऐसे ऐसे भगवान की पूजा में लगाए अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमय आत्मनि अश्वमेधे महेंद्रण बीतते ब्रह्मवादि भी तो भगवान की आराधना होने लगी कीर्तन पूजा प्रसाद वितरण होने लगा यज्ञ में यज्ञ में प्रसाद वितरण ही मुख्य है कथा और प्रसाद वितरण ये शास्त्र कहता है आज भी उत्तर प्रदेश के तरफ बनारस के तरफ लोग यज्ञ में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि चलो यज्ञ देखने यज्ञ सुनने चलो यही कहते हैं स्त्रियां भी कहती हैं चलो चलो यज्ञ सुनने चले तो यज्ञ में सुनना मुख्य है और यज्ञ करने वालों को चाहिए कि वे प्रसाद वितरण करें बिना प्रसाद के यज्ञ मरा हुआ है जैसे यही यज्ञ हो रहा है भागवत कथा लेकिन यदि प्रसाद न हो तो फिर इसकी ताकत में बहुत कमी आ जाएगी <laughs> तो प्रसाद जो है वो यज्ञ का जीवन है तो खूब प्रसाद वितरण हो रहा था और कीर्तन किया जा रहा था ब्राह्मण लोग विदमंत्र पढ़कर भगवान की स्तुति करके हवन कर रहे थे और इस तरह से जग चल रहा था तो सवई त्वाष्ट बधो भूया नपी पाप चयन पर नीतस तेन शून्याय निहार योगान ये भी बहुत बड़ा पाप था वृतराशु के बध का लेकिन भगवान की आराधना करने के कारण इंद्र का पाप वैसे ही नष्ट हो गया जैसे सूर्य के उगने पर कुहरा नष्ट हो जाता है ब्राइट डे आ जाता थोड़ा भी पाप नहीं रह गया भगवान के भजन में बहुत शक्ति है तो सौबाजी मेधे न जथोदिते न सौवाजी मेधेन जथोदितेन बिताय माने न मरीचि मुख्य मिश्र ही इष्ट्वाधिजज्ञम् पुरुषम् पुराणम् इन्द्रो पाप स इंद्र उस महान यज्ञ के अनुष्ठान होने से और इष्टवाधिज्ञम पुरुषम पुराणम परम पुरुष आदि पुरुष भगवान का यज्ञ से पूजन करने के कारण इंद्रो महान इंद्र महान हो गए विधूत पाप उनका सारा पाप नष्ट हो गया यह कह करके अब श्रील सुखदेव गोस्वामी इस आख्यान की श्रवण कीर्तन की महिमा बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा इसकी किसका क्या क्या फल है क्या महिमा है इदम महाख्यानमशेष पापमना प्रक्षालनम तीर्थ पदानुकीर्तनम भक्ति भक्तजनानुवर्णनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत्वत इस प्रसंग में क्या क्या है इदम महा आख्यान यह साधारण आख्यान नहीं है महा आख्यान है बहुत श्रेष्ठ कथा है क्यों क्योंकि इसको सुनने से और बोलने से अशेष पापमनाम प्रक्षालन समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है जो भी मनुष्य से गलती हुई है इस जन्म में पूर्व जन्म में जान में अनजान में सारी गलतियां माफ कर दी जाती है पापों का प्रक्षालन करने वाला है तीर्थ पदानुकीर्तनम क्यों पापों का प्रक्षालन हो जाता है क्योंकि इस कथा में इस नरेशन में तीर्थ पद का अनुकीर्तन किया गया है भगवान विष्णु का जस गाया गया है भगवान को तीर्थ पद कहते हैं क्योंकि उनकी पद से चरण कमल से श्री गंगा जी निकलती तो वे तीर्थ पद हैं गंगा जी समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं पर गंगा जी में जो पाप नष्ट करने की शक्ति है वो भगवान के चरणों से संजोग होने के कारण तो उनको तीर्थपाद या तीर्थ पद कहते हैं इस प्रसंग में भगवान की महिमा गाई गई है अच्छा भक्तुक्षय भक्ति उक्षय इसमें भक्ति योग की बहुत बड़ाई की गई है इस प्रसंग में भक्ति के उत्श्रय ऊंचाई का वर्णन है अर्थात भक्ति की महिमा का वर्णन है और भक्त वर्णन इसमें भक्तों का वर्णन किया गया है जैसे इंद्र वृत्रासुर वृत्रासुर बहुत बड़े भक्त हैं तो एक भक्त की महिमा का वर्णन करने का मतलब है सभी भक्तों की प्रशंसा भक्त जन अनुवर्णन भक्तजनों का अनुवर्णन है महेंद्र मोक्ष और इस प्रसंग में किस तरह इंद्र मुक्त हुए ब्रह्म हत्या से और वृत्रासुर के निगल जाने से भी पेट से निकल आए और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए इसका वर्णन है विजय मरुत्वत और इसमें इंद्रदेव के विजय का वर्णन है इसलिए यह महायाख्यान है आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पठे युराख्यानमिदम सदा बुधा शृण्वंत्यथो पर्वणि इंद्रियम धन्यम जशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुम जयम स्वस्तैनं तथा युषम बुधा यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है तो उसे चाहिए कि इस आख्यान को पढ़े बारंबार पढ़े विशेष करके पर्वणी पर्वणी पर्व पर्व पर्व वैसे पर्व तो पंद्रह दिन का होता है अमावस्या पूर्णिमा अथवा एकादशी एकादशी लेकिन इधर के लिए परवणी परवणी का मतलब है संडे संडे पढ़ना चाहिए इस प्रसंग में ये चार अध्याय पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा पठे ही आख्यान इदम सदा बुधा बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रसंग को सदा पढ़े पाठ करे या सुने श्रृणवंतु अथ पर्वणि पर्वणि इंद्रियम पढ़े और सुने पर्वणि पर्वणि इंद्रियम शिल प्रभुपा जी फेस्टिवल डे कहते हैं क्या अनुवाद किए हैं इस पर्वणि पर्वणि का अनुवाद वही करते हैं उसका अनुवाद इस समय यही किया जाएगा वीकेंड में पढ़ना चाहिए हाँ <laughs> तो पढ़ना चाहिए सुखदेव जी अपनी ओर से निमंत्रित कर रहे हैं लोगों को क्योंकि इस आख्यान के पढ़ने से और सुनने से बहुत शुभ होता है पहली विशेषता इसकी है इंद्रियम इंद्रियम का अर्थ है कि यह इंद्रियों की शक्ति देता है अथवा इंद्र संबंधित इस आख्यान को पढ़ना चाहिए अर्थ है कैसा है यह आख्यान धन्यम यह धन का प्रापक है इसको पढ़ने और सुनने से धन की प्राप्ति होती है धन के भाव को ही धन्य कहते हैं धन्य जिसके पास धन है उसको धन्य कहते तो धन्यम यह प्रसंग धन धन देने वाला है जशस्यम यह बहुत सुंदर जस का विस्तार करता है व्यक्ति के निखिला घमोचनम समस्त पापों को नष्ट कर देता है रिपुम जयम शत्रुओं पर विजय देता है कई प्रकार के शत्रु संसार में होते हैं कोई सु कर दिया है कोई किस किया है कुछ किया है कोई हमारे विरुद्ध है तो वो सबको शांत कर देता है ये प्रसंग देखा गया किस तरह इंद्र जीत गए उतने विशाल शत्रु को और वृत्रासुर भी जीत गए माया को दोनों तो जीते ही <laughs> इंद्र भी जीते इस प्रसंग में वृत्रासुर भी जीते वो तो वैकुंठ प्राप्त किए स्वर्ग प्राप्त किए तो विजय दिखाया गया है रिपुम जयम स्वस्थैनम स्वस्थैनम का अर्थ है कि परिवार या देश समाज ठीक से चलेगा बाल बच्चे सुखी रहेंगे पढ़ाई लिखाई ठीक से होगी इंद्रियां ठीक रहेंगी और तथायुषम आयुषम लंबी जिंदगी होगी स्वस्थ व्यक्ति रहेगा इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से लेकिन आदमी को इस पर विश्वास नहीं होता है केवल इंजेक्शन और टैबलेट पर विश्वास करता है अब दिन पर दिन दुबला होता जाता <laughs> कितने लोग तो ऐसे टैबलेट खाते हैं जैसे कोई चना और मटर चबा रहा है जरा इसको पढ़ करके तो देखिए और सुन करके कि कितनी शक्ति आती है शरीर में आयुषम सुखदेव जी परमहंस हैं झूठ बोलने के लिए गंगा तट पर नहीं बैठे हैं जो कुछ बोल रहे हैं वो फैक्ट है वास्तव में और और मनुष्य को चाहिए क्या इसके अलावा स्वस्थ और सुंदर जिंदगी लंबी जिंदगी हो धन पर्याप्त हो परिवार में सुख शांति हो किसी की अकाल मृत्यु न हो और जस बढ़े पाप नष्ट हो जाए शत्रु पर विजय प्राप्त करे मंगल हो तो और क्या चाहिए स्वस्तनम का अर्थ यह भी है कि अंत में वह व्यक्ति भगवान का शरण कमल प्राप्त करता है इसको पढ़ने से सुनने से सब तरह से सुख मिलता है इसलिए कहते हैं बुधा सदा पठे बुद्धिमानों को चाहिए कि ये सदा पढ़े क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि बेवकूफ लोग नहीं पढ़ेंगे इसलिए वो कहते हैं कि जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं वो तो पढ़ेंगे तो बुद्ध लोग पढ़े ही और क्यों नहीं पढ़े क्योंकि जानते दूसरे तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं वो तो अखबार पढ़ेंगे उनको तो फुर्सत ही नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने से टीवी देखने से वो क्यों पढ़ेंगे इसको ये पढ़ना चाहिए और इसी तरह के और भी प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में तो बारंबार पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए भगवान की कीर्ति भक्तों का उत्कर्ष भक्ति की महिमा किसी न किसी भक्त की लीला दी गई है उद्गार दिए गए हैं इसको पढ़ने से सब तरह से मंगल में जीवन होगा सुखी होगा होगा तो भगवान श्री कृष्ण आप सबको सुखी रखें परिवार के साथ और सबकी मति कृष्ण में लगी रहे शुभ विचार हो एक दूसरे की सहायता करें यही कामना है तो यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हो रहा है ये चार अध्याय का प्रसंग है इसी के विषय में सुखदेव गोस्वामी ये बात कह रहे हैं इसके बाद पिछले चार अध्याय अगले चार अध्याय में वृत्रासुर जी के पूर्व जीवन का वर्णन है जब चित्रकेतु महाराज थे तो हम तो इस दो खंड को दो सप्ताह में कहते हैं इस तरह से ये प्रसंग हुआ तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस कथा में आए और इस हरे कृष्ण धाम के भक्तों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये व्यवस्था किया एक अवसर दिया हमको यहाँ पर भगवान की बात कहने का इनका मैं बहुत आभारी हूँ और इस हुस्टन हरे कृष्ण केंद्र को बहुत बहुत लोगों ने मिल करके स्थापित किया है तो उन सबका भी मैं बहुत आभारी हूँ और